गुरुजी के इतना कहते ही तुरंत ही विक्रांत भी बोल पड़ा क्या नदी है पागलो क्या ये गुफा सैकड़ों मीटर लंबी है और अभी हम मात्र दस या बारह मीटर ही भीतर आए हुए हैं इतनी जल्दी अभी नदी नहीं मिलने वाली है अच्छा मुझे जहां तक पता है अचानक से प्रोफेसर त्यागी बीच में ही बात काटते हुए बोल पड़े यहाँ अंदर नदी से एक तालाब भी कनेक्टेड है मतलब वो कोई झील टाइप का बना हुआ है और वो झील ही गुफा के भीतर नदी से जुड़ी हुई है ओ अचानक से विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा जब उसने देखा कि यहाँ पर सभी लोग उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देख रहे हैं तो फिर उसने भी बात बनाते हुए कहा हाँ हाँ प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं विक्रांत की तेज आवाज सुनकर सब उसकी तरफ ध्यान से देखने लग गए और फिर उनमें से एक बोल पड़ा तुम सच में बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हें क्या लगता है वहां अंदर जाने के बाद कोई तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है जो आज तुम्हें मारने से बचा लेगा <laughs> सब लोग जोर से हंस पड़े तुम लोगों को कुछ नहीं पता है विक्रांत ने गुस्से से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा मैं बता रहा हूँ अब ये बहुत क्रिटिकल टाइम है अब किसी भी टाइम पर हम लोगों को खजाना दिख सकता है किसी भी टाइम ओ अच्छा तारिक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा फिर तो चलना ही पड़ेगा चलो सब लोग जल्दी अंदर की तरफ चलो हाँ चलो हाँ हाँ मैं कोई मरने से डरता नहीं हूँ समझे विक्रांत ने तारिक को घूरते हुए कहा मैं तो हमेशा सिर पर कफन बांध कर निकलता हूँ आगे जाकर इन लोगों को और ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब वहां सुरंग के भीतर इन लोगों को मोड़ दिखा और फिर वहां से मुड़ने के बाद तकरीबन पांच मिनट ही ये लोग चले होंगे कि वहां पर एक बड़ी सी झील नजर आने लगी विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि ये झील इतनी ज्यादा बड़ी होगी एक नजर में ही विक्रांत ने यह अंदाजा लगा लिया था कि ये झील कम से कम पांच या सात मीटर चौड़ी होगी लेकिन इसकी लेंथ कितनी है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था वाओ यहाँ गुफा में कितना बड़ा हॉल है तारिक शायद पहली बार किसी गुफा के भीतर गया हुआ था वो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया ये पानी बहुत ठंडा होगा विक्रांत सर ये बताओ तुम क्या सोचकर हमें यहाँ लेकर आए हुए हो तुम्हें क्या लगता है शेख मोहम्मद ने खजाने को यहाँ छुपाया होगा मरने से पहले तुम एक बात जान लो ताकि तुम्हें बाकी चैन की मौत मिले गुरुजी ने बीच में ही बोलते हुए कहा हमने पहले ही ये पूरा तालाब खंगाल डाला है यहाँ हम लाइफ बोट लेकर आए हुए थे और कुछ नहीं है यहाँ यहाँ इस पानी के भीतर मौत के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है विक्रांत अब तुम्हें क्या कहना है जैसे ही तारिक ने विक्रांत से यह सवाल किया तुरंत ही उसके सारे आदमी विक्रांत के ऊपर बंदूक तान कर खड़े हो गए नहीं नैना ये सब देखकर शॉक्ड रहेगी वो विक्रांत की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन तभी तारीख के आदमियों ने उसे बंदूक दिखाते हुए वहीं रुकने का इशारा कर दिया एक मिनट विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा तारीख ए गणेश गणेश महात्रे सुनो मेरी बात देखो अगर मैंने कहा है कि मैं खजाना ढूंढ सकता हूँ तो फिर मैं किसी भी हालत में वहां तक तुम लोगों को ले जाऊंगा ये भले ही आज झील बना हुआ है लेकिन आज से हजारों साल पहले हो सकता है कि यहाँ पर झील ना रही हो और फिर गुफा के भीतर खजाना छुपाने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह हो ही नहीं सकती थी दूसरी चीज अब भले ही इसमें पानी भरा हुआ है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ये झील चांद के आकार में नहीं है विक्रांत के इतना कहते ही वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए और ये सभी उस झील की तरफ ध्यान से देखने लग गए यहाँ तक कि जिन लोगों ने विक्रांत पर बंदूक तान रखा था वो भी अब बड़े ध्यान से झील की तरफ देखते हुए उसमें चांद का आकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विक्रांत को मुसीबत लग रहा था अभी और भी बढ़ने वाली थी क्योंकि इस झील में कहीं से भी चांद का कोई आकार नहीं नजर आ रहा था अब विक्रांत के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी खुद नैना को भी आगे आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वो कुछ भी कहने की हिम्मत में नहीं थी थोड़ी देर तक झील में चांद का आकार ढूंढने के बाद जब तारी को उसमें कुछ नजर नहीं आया तब वो विक्रांत की तरफ फिर से काफी खतरनाक नजरों के साथ घूरने लगा अरे ये झील बहुत लंबी है पता है मुझे लेकिन लेकिन लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ध्यान से विक्रांत ने फिर से कहानी बनाते हुए कहा देखो वहां झील के बीच में वहां गहराई में नीचे चंद्रमा के आकार का गड्ढा बना हुआ है और फिर उस गड्ढे के भीतर ही झरने का पत्थर भी होगा और वहां पर खजाना भी मिलेगा विक्रांत अपनी तरफ से तारिक को बहलाने की पूरी कोशिश कर रहा था तारिक ने भी विक्रांत की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने अपनी गल निकालकर विक्रांत के माथे पर ठिका दिया जाओ पानी में कूदो और खजाना ढूंढ के निकालो चलो जल्दी करो विक्रांत साहब जब तुमको खुद पर इतना भरोसा है तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं देख कर आते तुमसे ज्यादा तो किसी को वहां के बारे में पता भी नहीं है तारिक ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा जाओ अब तुम खुद ही ये खजाना ढूंढ कर ले आओ तारिक ने विक्रांत को लगभग धमकाते हुए कहा दरअसल उस वक्त तारिक को यही लग रहा था कि विक्रांत उसे बेवकूफ बना रहा है यहाँ किसी भी हालत में खजाना मिलने वाला नहीं है तारिक को यह कतई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ गुफा के भीतर जाकर पानी के अंदर उसे कोई खजाना मिलने वाला है इसलिए वो किसी भी हालत में खुद को और अपने आदमियों को रिस्क में नहीं डालना चाहता था बल्कि खुद विक्रांत को ही उसके खोदे हुए कुएं में उतरने के लिए कह रहा था तारिक को अच्छे से पता था कि वहां झील का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि विक्रांत अगर वहां गया तो फिर उसकी मौत निश्चित है ये विक्रांत के लिए एक तरह का मौत का फरमान ही था अगर विक्रांत पानी के भीतर गया तो फिर समझो कि वो सुसाइड ही कर रहा है यहाँ पर भी सबको यही लग रहा था कि किसी भी कीमत पर विक्रांत पानी के भीतर जाने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा और अगर विक्रांत पानी के भीतर नहीं गया तो फिर तारिक भी उसे गोली मारने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा इधर जैसे ही विक्रांत वहां पानी में जाने से मना करेगा तुरंत ही तारिक बंदूक का ट्रिगर दबाकर उसका काम खत्म कर देगा ठीक है नो प्रॉब्लम मैं जा रहा हूँ विक्रांत ने जवाब दिया और फिर सभी दंग रह गए किसी को उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इस तरह की बेवकूफी भी कर सकता है तुम सही कह रहे हो तारिक यहाँ मेरे अलावा किसी को खजाने के बारे में नहीं पता है तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा अच्छा और कौन मेरे साथ जाएगा क्या तारिक सोच में पड़ गया एक बार के लिए तो उसे विक्रांत पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जाने के लिए तैयार हो गया वो हैरानी से विक्रांत की तरफ देखने लगा और फिर उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली तुम जाओगे खजाना ढूंढने हाँ पानी थोड़ा ठंडा है बट ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम मुझे आधा घंटा दो मैं पक्का खजाने को ढूंढ निकालूंगा तारीख हैरानी के साथ विक्रांत को देखता ही रहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत को अभी गोली मारकर सारा गेम खत्म करे या फिर उसकी बातों पर यकीन करके उसे झील में जाने का एक मौका और दे दे